ये इंसानों के लिए एक पैगाम है और ताकि वो इसके साथ डराए जाएं और ताकि वो जान लें कि बेशक वो एक ही मबूद है और ताकि अक्लमंद नसीहत हासिल करें